जब तक वो थी तब तक विक्रांत की छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी उसके कपड़े से लेकर खाने तक सारा इंतजाम वो करके रखती थी अब माँ के जाने के बाद उसे सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे जोर की छींक आई इसके साथ ही अदृश्य शक्ति का सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया आज का कोड वर्ड है पहाड़ और तूफान पहाड़ी के पीछे भयानक तूफान छिपे हुए बाढ़ से मत डरो बादल दिन को खराब कर सकता है विक्रांत को आज इन पहलियों का मतलब समझ में नहीं आया था पहली बात तो ये पहली किसी की आवाज में उसे सुनाई पड़ती है उसे कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं दिखाई देता है और जब ये आवाज सुनाई पड़ती है तब ये क्लियर वॉइस नहीं होती है विक्रांत बड़ी मुश्किल से इसे सुन पाता है और फिर दोबारा से उसे ये आवाज सुनाई भी नहीं पड़ती है इसलिए विक्रांत इसे कहीं लिख भी नहीं पाता है वरना बाद में वो इसका मतलब ढूंढ सकता था लेकिन यहाँ तो उसे पहली याद ही नहीं रहती है अब तो बस उसे माँ के जवाब का इंतजार था एक बार उसे नाना जी द्वारा लिखी गई एस्ट्रोलॉजी वाली किताब मिल जाए तो हो सकता है कि उसे इन पहलियों का मतलब समझ आ जाए और एक बार अगर पहलियों का मतलब समझ आ जाए तो हो सकता है कि विक्रांत आगे चलकर और भी अच्छे से अपने काम को कर पाएगा और हो सकता है उसे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पहले ही पता लग जाए विक्रांत ये सोच ही रहा था कि उसका ध्यान आज के कोडवर्ड पर गया उसे आज कोडवर्ड में पहाड़ और तूफान शब्द मिला हुआ था तूफान का मतलब तो समझ में आ रहा था क्योंकि ये स्टेटस से था और आज विक्रांत जिम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रहा है वो शहर के सबसे जिम में से एक का मालिक बनने जा रहा है तो जाहिर है कि आज उसका स्टेटस बढ़ने वाला है लेकिन पहाड़ पहाड़ का क्या मतलब है क्या अब फिर से कोई नया केस आने वाला है साला पुलिस की नौकरी में भी ना आराम नहीं है हद है विक्रांत मनी मन सोचने लगा सुबह के साढ़े दस बज चुके थे और तब तक पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में बने ऑफिस में दोनों पार्टियां पहुंच चुकी थी यहाँ काफी लोग मौजूद थे खालिद और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ ही दोनों पार्टियों की तरफ से भी काफी लोग पहुंचे हुए थे पैसिफिक बिल्डिंग के मालिक थे दोनों पक्ष के वकील भी थे और विक्रांत की तरफ से सरताज और उसके तीन साथी भी मौजूद थे वाकई में खालिद ने बहुत सही काम किया था जो काम शहर इतने बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मलिक नहीं कर पाए वो काम भी खालिद ने चुटकी बजाते ही निपटा डाला था उसे ये सब करने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा था खालिद सबसे पहले जेल में जाकर सोनू दीदी से मिलकर आया उसने सोनू से डील करके सबसे पहले इस जिम का मालिक पैसिफिक बिल्डिंग वालों को बना दिया यही थोड़ा कानूनी दाव पेश का काम था लेकिन खालिद के लिए ये कोई नई बात नहीं थी वो इस तरह के कानूनी दाव पेच रोज खेलता है उसके पास तो ऐसे वकीलों की एक फौज है जो फटाफट इस तरह के काम को निपटा देते हैं जैसे ही सोनू ने इस जिम का मालिकाना पैसिफिक बिल्डिंग के मालिक के हाथ में किया उसके बाद तो सारा काम ही आसान हो गया इसके बाद खालिद ने पैसिफिक बिल्डिंग के मालिक से डील करके तुरंत ही जिम को विक्रांत के हाथों बेच दे रहा है अब जो भी पैसा विक्रांत इस जिम के लिए देगा वो सीधे ही सोनू दीदी के हाथ में चला जाएगा और जिम विक्रांत और उसके साथियों के नाम यहाँ पर बड़े आराम से स्व कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के काम हो गया इसके साथ ही ब्लांड सरताज इस जिम का लीगल मालिक बन गया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग के मैनेजर ने सरताज के साथ हाथ मिलाया और उन्हें मजाक में कहा लीजिए मिस्टर सरताज आप इस जिम के मालिक बन गए <laughs> अब जो करना हो कीजिए लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा प्लीज इस जिम में कोई ब्लैक मार्केट का तय खाना मत बना डालिएगा <laughs> देखिए हमारी बिल्डिंग शहर की रेप्यूटेड बिल्डिंग है और हमारे चेयरमैन साहब नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस का केस बने सो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा हाँ हाँ बिल्कुल सर सरताज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सरताज की जगह पर विक्रांत ने या किसी और ने साइन किया होता तो शायद बिल्डिंग के मैनेजर ने ये चेतावनी ना दी होती दरअसल सरताज की शक्ल ही ऐसी थी कि वो पहली नजर में सब कुछ रोड छाप गुंडा ही लगता था एक तो वो काफी मोटा था ऊपर से काली शक्ल के साथ उसने अपने बालों को भी लाल रंग में पेंट करवा रखा था गले में स्टील की मोटी चैन हाथों में अंगूठिया बिल्कुल राक्षस का स्वरूप था खैर बिल्डिंग के मैनेजर ने जो कुछ भी कहा वो सरताज की समझ से बाहर था फिर भी वो अपना सिर हिलाकर यूं हामी भरता रहा मानो सब कुछ समझ रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बिल्डिंग के मैनेजर और वकील वगैरह यहाँ से चले गए विक्रांत काफी खुश था अब वो जिम का मालिक बन चुका था उससे ज्यादा खुशी सरताज और उसके गैंग को थी अब कम से कम इन लोगों के पास कुछ काम तो रहेगा ए इधर आओ विक्रांत ने खालिद को अपने पास बुलाया और फिर उसके हाथ में बीस हजार रुपए रखते हुए बोला ये लो अपना कमीशन मैं कोई काम फ्री में नहीं करवाता तुमने मेहनत की है तो इसका प्रॉफिट तुम्हें जरूर मिलना चाहिए अरे नहीं साहब कमीशन की कोई जरूरत नहीं आपने कहा और मैंने काम कर दिया ये कमीशन आप अपने पास ही रखिए बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चाय की शॉप से चाय और कप मत चुरा के लाया कीजिए खालिद ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा <laughs> विक्रांत पहले राक्षसों की तरह जोर से हंस पड़ा और फिर अचानक खालिद का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोल पड़ा अबे पैसे दे रहा हूँ तो पकड़ना ये फालतू का ड्रामा क्या करता है अरे अच्छा अच्छा खालिद के पास भी उस वक्त विक्रांत के हाथ से पैसा पकड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था वो पहले भी विक्रांत का काला जादू देख चुका है तो उसे पंगा लेने की जरा सी भी कोशिश नहीं करता है विक्रांत को भी खालिद के काम करने का तरीका भाग गया था उसे पता था कि आगे भी खालिद उसके काम आ सकता है ऐसे में इस आदमी से दोस्ती करना ज्यादा फायदेमंद है इसीलिए विक्रांत उसे पैसे देकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता था क्योंकि किसी से फालतू की दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं है विक्रांत का यही वसूल है उधर खालिद को भी ये बात पता थी कि ये जिम विक्रांत ही खरीदने जा रहा है ऐसे में अगर उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो फिर खालिद के लिए ही खतरा हो सकता है वैसे भी खालिद की तो विक्रांत से कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं वो बस साजिद खान को छुपाने के चक्कर में ही विक्रांत ने उसे पीटा था उस वक्त विक्रांत मंजू सचदेवा के मर्डर केस पर काम कर रहा था और तब मंजू के मर्डर के आरोपी साजिद खान की तलाश में ही खालिद से विक्रांत की मुठभेड़ हुई थी लेकिन बाद में जब पता चला कि साजिद खान को सिर्फ मंजू के मर्डर केस में फंसाया जा रहा था तो फिर उससे कोई दुश्मनी वाली बात ही नहीं रह गई थी